उद्गम उपस्थित सज्जनों प्राकृतिक विज्ञान अत्यंत आवश्यक है वैसे ही समस्त पदार्थों के साथ उचित व्यवहार का विज्ञान उसकी गतिविधि उस व्यवहार को समझना और तद अनुरूप ही वर्ताव करना आवश्यक है हाँ जी विशाल जी क्या समझे जैसे व्यक्ति को अपनी और दूसरों की उन्नति का साधनों को और बाधकों को जानना जरूरी है वैसे ही उसकी उपलब्धि के विज्ञान को जानना भी जरूरी है हाँ जी क्या समझे आप जैसे व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए और दूसरे की उन्नति के लिए आत्मा परमात्मा और भौतिक पदार्थों का ज्ञान विज्ञान आवश्यक है वैसे ही व्यवहारिक ज्ञान कि हम पदार्थों के साथ उचित व्यवहार करें जो यह विज्ञान है और जो इस प्रकार गतिविधियां हैं उसका भी ज्ञान आवश्यक है आप सब समझ गए या नहीं हाथ खड़ा करो समझ गए तो कम समझ पाए फिर बोलू जैसे ईश्वर जीव प्रकृति विकृति इनके स्वरूप का ज्ञान विज्ञान विद्या अपनी उन्नति के लिए अन्यों की उन्नति के लिए आवश्यक है अनिवार्य है समझ उसी प्रकार से नीचे से लेके शरीर मन इंद्रिया पृथ्वी जलवायु आकाश फिर आत्मा फिर परमात्मा और समाज राष्ट्र विश्व इनके साथ उचित बर्ताव व्यवहार का ज्ञान उसका प्रयोग भी आवश्यक है कुछ समझ में आया आप बोलो विश्व जी कैसे बैठे चुपचाप समझ में आ गया अब नहीं आया वो हाथ खड़ा करो आ गया हो तो नहीं आया हो तो वो करो चलो आ गया आप स्वयं के साथ अपनी मन इंद्रियों के साथ आत्मा के साथ क्या उचित व्यवहार करते हैं या नहीं करते प्रथम बात होगी आत्मा का स्वरूप ज्ञात हुआ मन आदि का भी ज्ञात हुआ फिर मन और आत्मा का संबंध रहता है उन दोनों से हम मिल मिल के कार्य करते हैं उनको अपने आधीन रख के उचित कार्यों की सिद्धि करना अनुचित कार्यों को न होने देना अपने साथ कुछ आया व्यवहार का मतलब या नहीं आया हुँ? आ गया क्यों जी ऐसे अपने मित्र ऐसे गुरुओं के साथ ऐसे ही समाज के साथ फिर वैसे ही ईश्वर के साथ सर्वत्र ये बातें इस रूप में व्यवहार में आती हैं ऐसी स्थिति ऐसी प्रयोगात्मक शैली से व्यक्ति सफल होता है सफल अंतिम कृत कृत्यता तक पहुंच जाता है नहीं तो नहीं पहुंच सकते अब आप ये बताओ सबके बीच में मध्य में आपके सीधे दोष सुना दिए जाएं तो आप ए, उसे प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न होते हैं जो प्रसन्न होते हैं वो हाथ खड़ा करो एक दो तीन जो अप्रसन्न होते हैं वो हाथ खड़ा करो नहीं तो कौन सा पक्ष ठीक है इनमें से प्रसन्न होना ठीक है अप्रसन्न होना ठीक है जो प्रसन्न होना ठीक मानते हो हाथ खड़ा करो फिर वो क्यों नहीं होते प्रसन्न ये बताओ वो अप्रसन्न क्यों होते नाराज क्यों होते इसका हेतु दो ये अपने साथ ये व्यवहार आपका अनुचित है अपने दोषों को सुनकर अप्रसन्न होना और गुण मात्र को सुन के प्रसन्न होना ये अपने साथ आपका अनुचित व्यवहार है आ गया समझ में नहीं आया बोलो तो हा ना क्या है कारण क्या है ध्यान देना जिस व्यवहार से जिस बर्ताव से जिस क्रिया से हम अपने सुख और सुख साधन अन्यों के सुख और सुख साधन अथवा लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति अभ्युदय निश्रेष सिद्धि जिस वर्ताव से होती है वो उचित व्यवहार है क्या समझ में आया कौन सुनाएगा जी अपनी उन्नति ऊंचा बोलो वहां तक सुनाई दे अपनी उन्नति के लिए जो साधन है और दूसरे की भी उन्नति के लिए जो साधन है उन सब का उपयोग हमें अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि करने के लिए करना चाहिए हाँ अच्छा आपके बोलने में बताने में भाषा की निर्बलता है आप अनुभव करते या नहीं करते या नहीं करता तो उसको दूर करने का क्या उपाय किया आपने धीरे बोलने का धीरे बोलना एक भाग है और भाषा ही ठीक नहीं है भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध रहती है या उलझ जाती है उलझी सुलझी हो जाती है उसके उसका उपाय यह है आप जो आर्य भाषा में हिंदी भाषा में तीसरी चौथी से जहां से भी व्याकरण पढ़ाया जाता है उसकी एक इकट्ठी पुस्तक भी होती है क्या समझे आप अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग व्याकरण की पुस्तक भी होती है उसको एक दो तीन चार बार आप अच्छी तरह पढ़िए और जो बात समझ में नहीं आए वो अधिक भाषा जानने वाले से पूछ लीजिए आपकी भाषा बोलनी लिखनी सब क्षेत्रों में वो शुद्ध हो जाएगी यदि आप ऐसा नहीं करते तो प्राय अशुद्ध रहे क्या उपाय आया समझ में क्या करोगे आप नहीं है सुनाई दिया हिंदी भाषा को शुद्ध करने के लिए क्या करोगे आप पहली दूसरी और चौथी ऐसी कक्षा की जो शुरुआत की व्याकरण की पुस्तक होती है और सारी सारी भी एक साथ होती है उसको पहले से अंत तक अच्छी प्रकार उसको समझकर उसके अनुसार बोलने का प्रयत्न करना चाहिए तो भाषा सुधर जाएगी ठीक आप बोलेंगे ठीक लिखेंगे ठीक समझाएंगे ठीक पढ़ाएंगे अन्यथा आप लिखने में बोलने में पढ़ाने में बात करने में अशुद्ध बोलेंगे समझ में आई नहीं आई प्रत्येक व्यक्ति अब ये एक अंग है हमारे व्यवहार का भाषा वो आपकी उन्नति का कारण उस समय अधिक बनेगी उसका ऊंचा स्तर आपको समझ में आता है भाषा का वो बोलनी लिखनी पढ़नी आती है उसके माध्यम से दूसरी चीजें भी समझते हैं और उनको समझाते भी हैं तो आपकी उन्नति का कारण बन गया अच्छा ऐसे ही संस्कृत भाषा की बात है आप उसके लिए वैसा प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी उन्नति जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं होगी अच्छा ये बताओ आपको एक दो धातु के एक परसमयी पद एक आत्मने पद की धातु जिसके दस के दस लकारों में रूप चलाने वाते हैं दो धातुओं को ले लो कौन सा ब्रह्मचारी है ऐसा बोलो हाथ खड़ा करो मेरी बात फिर दस लकारों में एक को छोड़ दो जो वेद में प्रयोग होता है कौन सा होता है वेद में तो <laughs> कौन सा होता आदमी है तो दसों लकारों में एक परसमयी पद धातु और एक आत्मनिपद धातु के दसों लकारों में जो कंठ से सुना सकता है कोई ब्रह्मचारी वो बताओ अब आप सारे भी पद अनुत्तीर्ण यदि नहीं याद है कोई क्या कहेगा आपको आपको ये पता नहीं चला व्यवहार में हमको इन लकारों का प्रयोग करना पड़ेगा प्रवचन देंगे तो भी प्रयोग करना पड़ेगा लिखेंगे जब भी प्रयोग करना पड़ेगा और शास्त्रार्थ करेंगे तब भी शुद्ध भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा ग्रंथों में लिखेंगे तब भी लकारों का प्रयोग होगा हम गहरी से गहरी दर्शनों की संस्कृत भाषा में पंक्तियों को लगाएंगे तब भी लकारों का प्रयोग करना पड़ेगा वेद का अर्थ करेंगे तब सतत लकारों का प्रयोग करना पड़ेगा अब आप बताइए विफल हो या नहीं हो व्यवहार में भाषा के क्षेत्र में हो गए या नहीं हो गए हां करो या ना करो तो कब इस दोष को दूर करोगे बताओ हाँ। कितने दिनों में बताओ कितने दिन लगाए दस लकारों में एक उस परसमय पद धातु के एक आत्मनिपद धातु के कब कर लोगे बताओ कितने दिन में करोगे लिखना बोलना सुनाना तीन बात बोलो हम्म नहीं पता कितने दिन में कर लोगे विचार के बता दोगे या हां या ना कुछ भी नहीं <laughs> हां करो या ना करो या ये कहोगे इतने दिन में करेंगे ये ये मौन ना भी अव्यवहारिक बात है या नहीं है या ये कौन समझ में ही नहीं आया जो बताया या तो यहां से चलो हाँ, आज क्या बात पूछी गई हमको समझ में नहीं आ रही आ गई तो उसका उत्तर दो हम्म? कुछ नहीं बोल रहे नहीं करेंगे कुछ नहीं बोल रहे नहीं करेंगे हाँ, तो हाँ, ये उत्तर इसका ये बनेगा फिर तो आप इस बात को करने के लिए तैयार नहीं अथवा भले ही आप तैयार ना हो इसको अनावश्यक समझते हैं ये दिमाग तो ये भाषा के क्षेत्र में बताई मैंने और और व्यवहार की बात बताता हूं और आप ब्रह्मचारी मेरे साथ रहते हैं कभी कोई दो कभी कोई दो रहते हैं कभी कोई रहते हैं कभी कोई रहते हैं तो उनके व्यवहार को मैं देखता हूं ये कैसे लेते देते खाते पीते करते कराते हैं अब कई मास तो उनके पढ़ाने में तोते की तरह रटाने में लग जाता है कि ऐसे उठो ऐसे बैठो ऐसे अब फिर उनको बताते जाओ और भूलता जाएगा फिर कहो कि ऐसा करो फिर भूल जाएगा वो फिर बताएंगे वो फिर भूल जाएगा वो क्यों होता नहीं होता वरुण जी बोलो क्यों धर्मवीर जी होता नहीं होता नहीं होता वो ये समझते हैं एक तो कि ये कोई आवश्यक बातें थोड़ी है इनको याद रखो नहीं जैसे उदाहरण के रूप में ये अरुण जी अच्छा वरुण जी जो है ये मच्छरदानी लगाते हैं सायकाल मेरे उसके ऊपर तकत के ऊपर जैसे भाई वर्ण जी मच्छरदानी इसमें लगा दो अजून लगा दी ना उसको झटकाया ना इधर किया उधर झट दबा के दूर हुई तो मैंने कहा कि आपको मच्छरदानी लगानी आती है फिर हाँ ये देखो ये लगा दी <laughs> ये लगाते थे मच्छरदानी मैंने कहा मच्छरदानी ऐसे नहीं लगाते कैसे लगाते इसको झटका के लगाते अच्छा अभी तो यही पता नहीं आज तक मच्छरदानी को झटका के लगाते झटका के क्यों लगाते हैं बताओ तो बोलो सूक्ष्म होती है? धूल होती है उसमें बस अच्छा और बताओ धूल है जी और दूसरा कभी मच्छर भी उसमें हो सकते हैं कभी क्या प्राय होते हैं और वो अंदर रह जाते हैं एक मच्छर सर रात फिर काटता रहेगा वो हटेगा नीचे कुछ भी मर जाएगा तो मर जाएगा अब उसको यही पता नहीं मच्छरदानी क्यों लड़काते हैं उसने कहीं से वो लड़का दी इधर उधर कर करा के फिर दबा दी मैंने कहा आगे नहीं हमने दी मैंने कहा ऐसे नहीं झटकाते <laughs> मच्छरदानी के अंदर हमें अपने सिर को अंदर ले लेते हैं और एक कपड़ा लेते हैं उसके कोणियों में से एक कपड़े से कपड़ा मारते जाते हैं खुली रखते हैं ना उसको झटकाते जाते हैं कपड़ा मारते जाते हैं तो कोई मच्छर कोने में घुसे हुए होते हैं ना उस कपड़े से अच्छी तरह निकल आते हैं आगे बात समझो तो जैसे ये एक छोटा सा दृष्टांत ऐसे बीस बातें दिन भर सिखाओ फिर दूसरे दिन वही के वही दूसरे दिन चले सोने के लिए मच्छरदानी न लगा के चल पड़े ठीक है वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि मैं मेरा धर्म क्या था मेरा क्या कर्तव्य नहीं चलेंगे कोई बात नहीं यदि उसको न छेड़ा जाए न करा जाए तो आज से आगे तक कई मच्छरदानी नहीं लगाएगा बिना कहीं मैंने मच्छरदानी लगाई चला जाना प्रत्येक व्यवहार अब मैंने कहा भाई ऐसे तो आपको न बताया जाए न सिखाया जाए तो शायद आप भोजन जाना भी छोड़ दोगे क्या ठीक पहले एक बार छोड़ता है वो <laughs> पहले एक को भूलता है भाई संजय नमक लगना फिर आपने नाश्ते चून लगना काली मिर्च रखनी पहले एक को छोड़ दिया फिर दो को छोड़ दिया फिर तीन को छोड़ दिया फिर पानी रखना छोड़ दिया फिर घी रखना छोड़ दिया और फिर बोलना नहीं आप मैंने मैंने कहा इनको नहीं बताया जाता तो भोजन रखना भी छोड़ देंगे व्यवहार अब ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेगा कैसे ईश्वर को प्राप्त करेगा मनुष्य के साथ व्यवहार करता नहीं ईश्वर के साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर लेगा नहीं कर सकता ईश्वर की इच्छा के अनुरूप वो व्यवहार कैसे करेगा ईश्वर ಬೇಡ ಜಾತ सम्मादरणीय विद्युतगण धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारीगण बातें याद हैं कौन सी बातें याद है जैसे कि आत्मज्ञानम समारंभ चिकित्सा धर्म नित्यता निमर्थानापकर्षंती यह सपंडित उच्यते हम्म। निषेवते धनस्तानी निंदितानी न सेवते हम्म। हम्म। आनंद जी कुछ याद है उस समय विद्यार्थियों के लिए क्या क्या कुछ लिखा है आपको कुछ स्मरण है जिस प्रकार से व्यवहार करते समय व्यक्ति को निपुणता की आवश्यकता है अत्यंत सावधान होकर के पदार्थों का प्रयोग उनके साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है उसी प्रकार से ऋषियों के लिखे ग्रंथ जो हैं उनमें क्या क्या बातें कहां कहां पर किस प्रयोजन के लिए लिखी गई उन्होंने अपने लक्ष्य पर पहुंचने में बाधक क्या क्या गिनाए अथवा हे हे हेतु हानम हान उपाय कहां कहां पर किस ऋषि ने कैसे लिखे उनको ये व्यक्ति स्मरण रखता है जब कोई कार्य करता विचारता निर्धारण करता तो उस विषय में ऋषि ने क्या लिखा है ये सोचता है इससे व्यक्ति अपना मुख्य प्रयोजन ईश्वर साक्षात्कार करने में सफल होता है और जो ऋषियों की इन बातों को इस रूप में नहीं जानता नहीं प्रयोग करता वो व्यक्ति विफल हो जाता कारण कि वहां पर अपने मन में जैसी बात आती है अथवा किसी की सुनी हुई आती है वह वैसा ही करता है उस समय ये परीक्षण नहीं होता ये बात सत्य भी है या नहीं ऋषियों की बात जो निर्वाचित निर्धारित हैं उनके आधार पर सोचता है तो जो उनमें बातें हैं ऋषियों ने जो लिखा उसको ही करता है उसके विरुद्ध नहीं करता सतत अशुभ कर्म अज्ञान कुव्यवहार से बचता जाता है मनमानी नहीं करता कभी किसी ग्रंथ को पढ़ता है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं कुछ बातें ऋषियों के विरुद्ध भी हैं यदि ऋषियों की सभी बातों को दिमाग में रखता है जानता है समण है तो उसमें कहीं उल्टी बातें विरुद्ध बातें समझ में आ जाती हैं तो उनसे वो बच जाता है नहीं तो उनकी चपेट में आता है उन्हीं को बना लेता समझ में आया नहीं आया क्या समझ में आया बोलो ऋषियों ने जो विधि विधान किए हैं उनको पढ़कर हम ये ज्ञान कर सकते हैं कि क्या छोड़ने योग्य है हम्म। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो जो छोड़ने योग्य वस्तुएं हैं उनको भी हम धारण कर लेंगे अपने मन में अनेक विचारधाराएं आती हैं उभारी जाती हैं व्यक्ति जिसको हितकारी समझता है उसका इच्छुक होता है लेने का प्रयास करता है और हानिकारक वस्तु या विचार को वह छोड़ने का प्रयत्न करता है अब यदि वो ऋषियों की बातों को जानता समझता है तो हित आहित की कसौटी ऋषियों की बात रहती है और ऋषियों की बात के अनुरूप होने पर ग्रहण करता है विरुद्ध होने पर छोड़ देता है यदि याद नहीं है तो जैसी अपनी इच्छा होती है वह सब ग्रहण करता है और जैसी अपनी इच्छा होती है वह सब परित्याग कर देता है क्या आप परीक्षण करते हैं मन को कौन चलाता है कैसे चलता है कभी परीक्षा के रूप में देखते हो आप बोलेंगे हाँ जी क्या देखता है जब अच्छी बात प्रयोग करता हूँ पता चलता है कि मन को मैं चला रहा हूँ हम्म। और जितने भी जो कुर्सी है उसको मैं उठाता हूं तो आपको ये बैठा दिया जाए ऐसे जैसे आप बैठे तो आप कुछ भी न विचार करें ऐसा हो सकता है या नहीं परीक्षण करके देखो हाँ जी क्या करोगे कुछ भी नहीं विचारना क्या करोगे करके देखो आंख खुलने में कठिनाई पड़ती है तो आगमन कर लो करके देखो क्या देखोगे इस समय मैंने किसी विषय पर विचार नहीं करना है ऐसे कर बोलेंगे क्या आप जो चाहते थे कि इस काल में मैं कुछ भी विचार न करूं वो सिद्ध हुआ बीच बीच में ऐसी स्थिति आई और बीच बीच में ये ट्रैक्टर की आवाज भी आई और थोड़े और दूसरे विचार भी बीच में आए बहुत प्रयत्न किया तो रोके भी और आए भी दोनों स्थितियां आई उस समय जो विचार उठे थे विचारों में कारण क्या था उठाने वाला तो मैं ठीक करता हूं अब तो आप जब उठाने वाले थे तो उठाने से पहले ही ना उठाते उनको एक तो उठा देना और फिर रोकना दो अलग अलग स्थिति है दरवाजे को बंद करना और खोलना पहले दरवाजे को खोल देना फिर कहना आप तो रात्रि है बंद करना था नहीं समझे आप तो वो दरवाजे को खोला ही नहीं पहली स्थिति तो ये हुई कि आपने उठाए होंगे वो हाँ जी क्या अनुभव हुआ इसमें एक दो उठाई तो इसको रोक उठाते समय क्या घटना घटी कैसे उठाए आप बिना सोचे बिजारे उठाए पता नहीं चला चला अच्छा उठे जब उठे तो उसका पता क्यों नहीं चला वहां पर मैंने ध्यान दिया नहीं था उस समय मैं ध्यान उसमें विशेष रूप से नहीं दिया मेरा ध्यान उठा चला कि मैं वृत्तियों को रोकना है सर उस और भी चला गया उठा भी दिए दो काम कैसे करे आपने <laughs> आप ये कहते हैं मेरा ध्यान उस ओर चला गया कि मृत्यु को न उठाऊं और उठा भी गए इसको जो उसके बाद में तो पता चला कि वृत्ति आ गई है उसको फिर हटा करके अच्छा आपने ये क्या वृत्ति आ रही है ये था या मैं वृत्ति ला रहा हूं ये था दो में स्थिति भिन्न भिन्न आई दिखती है और एक उस काल में भी वो मैं ला रहा हूं इसको देखना दोनों अलग अलग स्थिति है जो बहुत सूक्ष्म होती है तो ऐसे लगता है कि वो आ गई हाँ तो आ रही है जो है ना दिमाग आ रही है तो ये तो उल्टा दिमाग हुआ उल्टी बुद्धि हुई है तो वहां पर क्या अनुभव करेंगे हम हम ये अनुभव करेंगे ला रहे हूं ये नहीं अनुभव करेंगे आ रही है आ रही है तो उल्टा पाठ फिर पढ़ लिया उसने हाँ जी कैसे चुपचाप बैठे हो कुछ समझ में आ रहा है वैसे ही बैठे हो है हाँ जी कुछ आ रहा है समझ में क्या समझ में आ रहा है ऊंचा बोलो जो पीछे वाले को भी सुनाई दे अभी जो आपने प्रयोग कराया उसके विषय में पूछा गया क्या पूछा गया आपने उठाई आ गया घर तो फिर क्या होता है अपनी बताओ क्या अनुभव हुआ आपका अनुभव क्या हुआ इतनी देर में मैंने वित्तीय उठाई फिर उसको रोका फिर उठाई फिर रोका इस तरह चलता रहा अच्छा जब उठाई वृत्ति तब ये नहीं जाना मैं उठा रहा हूं कैसे भोजन के लिए जाते हो ना कमरे से जी ये पता नहीं चलता मैं भोजन के लिए जा रहा हूं पता चलता है क्यों जी वो कैसे चल जाता है वो पता कैसे चलता है कि हम भोजन के लिए जा रहे हैं और यहां मैं वृद्धि उठा रहा हूं ये पता नहीं चलता ये क्या बात है हाँ जी धर्मवीर जी मेरा अनुभव यह रहा स्वामी जी हाँ कि मैंने कोई व्यक्ति नहीं उठाई अच्छा मेरे ज्ञान के अनुसार अच्छा क्या करते रहे फिर मैं धारणा के स्थान को ही देखता रहा अपना जो विचार था धारणा के ऊपर ही मैंने एकाग्र बनाया था तो आपने जो कहा था वो नहीं किया जो नहीं कहा था वो कर लिया हाँ जी विशाल जी क्या भूल की इन्होंने जो बिल्कुल मन को निर्विषय बनाना था हाँ हाँ उसकी जगह पे एक विषय एक विषय बना लिया क्या समझ तो एक विषय बनाने के लिए नहीं कहा था कुछ भी नहीं विचारना इसके लिए कहा था आनंद जी बोलिए एक जो काला सा पर्दा लाकर वो तो मैंने भी किया था क्या किया काला का पर्दा लाकर ये विचार बनाया कि मुझे कोई वृत्ति नहीं उठाई ऐसी स्थिति मैंने प्रयत्न की हाँ। अब वो धारणा का स्थान उसको कह लें या उसको काला पर्दा कह लें हाँ, कुछ न कुछ आपने भी अपने मन को स्थिर करने के लिए उपाय ऐसा ढूंढा थोड़ा जैसे कि धर्मवीर जी ने ढूंढा अच्छा इसमें क्या समस्या है कि अब मैं कुछ नहीं विचारूंगा इसमें क्या और खड़ी होती है अब या तो ध्यान जगाना आरंभ करते हैं या जो है उसको जो है रोकने के लिए प्रयास करते हैं या विवश हो जाते हैं नहीं चाहते हो भी जैसे आ रहा हो ऐसे क्यों होता है अच्छा अब आगे बढ़ेंगे जो विषय आता है सामने वो रूप के आकार प्रकार का होता है या शब्द के आकार का या स्पर्श के रस के गंध के कैसे आकार प्रकार का होता है जो विषय आता है आप कहते ना विषय उठा लिया वो विषय कैसा होता है नहीं पता चला हाँ जी विश्वेश जी क्या पता चला जो हम विषय उठाते हैं वो है शब्द का है स्पर्श का हाँ वो कौन से आकार प्रकार का विषय आया है जो आप उठाते हैं ये पता लगता आपको नहीं लगता है हाँ जी क्या पता लगता है ये इसका ध्यान ही मिलते आ गया से तो आ गया आ गया विषय तो आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये रूप विषय है या ये शब्द विषय है या ये स्पर्श है गंध है कौन सा विषय है जो आया दिख रहा है ये नहीं ध्यान देते आप है फिर क्या करते हो फिर दो स्थिति भिन्न भिन्न एक स्थिति है उस रूप विषय को आपने देखा और उसको आपने रोक दिया नहीं जाना उपस्थित नहीं होने देना एक अथवा आपने जो रूप विषय को देखा उस वस्तु तत्व को प्रलय की स्थिति में पहुंचा दिया ये दूसरी स्थिति स्थिति कह क्या समझ में आई आपको बोली नहीं आई हाँ जी नहीं आई समझ तो समझ में वस्तु को जो उसको पहुंचा सब भाषा बोला करो ऊंची बोलना भी सीखना पड़ता है जो वस्तु तत्व तो आया है उसको प्रलय अवस्था में पहुंचा देना एक दूसरे समझ एक तो ये इसको प्रलय अवस्था में पहुंचा देना रुक गई अब आना ही क्या है वस्तु ही नहीं रही नहीं समझे अब उसके ऊपर ध्यान देना कभी आने जाए उसको रोकना हुँ? बात ही समाप्त कर दी उसने तो वहीं वस्तु ही समाप्त कर दी उसने उसकी ओर मन का जाना जैसे फिर भी उसको उठा के रख लेना जैसे वो वस्तु ही नहीं छोड़ी उसने दूसरे पक्ष में वो वस्तु रही जो की त्यों और वो रोकता रहा विचार विचार वस्तु संबद्ध है जो विचार है उसको रोकता रहा उसको रोकता रहा बार बार रोकता रहा एक स्थिति आई उसने रोक दिया सफल हो गया पर वस्तु जो कि तो विद्यमान है उसने रोक दिया एक स्थिति आई कि वो वस्तु को रोकने लगा रोकने लगा तो वो खिसक गया फिर उसने बल लगाया फिर आ गई वो उसको रोका तो दूसरी आगे खड़ी हो गई उसको रोक दिया उसने उसको रोक दिया तो तीसरी और आगे खड़ी हो गई उसको रोक दिया एक को रोकता है दूसरी आगे उपस्थिति हो जाती है उसको रोकता है तीसरी आगे उपस्थिति हो जाती है ये घटना आप देखते हैं या नहीं देखते आप बताइए अपने क्या अनुभव आपका जो कि त्यों है या नहीं है जी और ये भिन्न भिन्न स्थितियों को देखो तो पता चलेगा कि ये भिन्न है इससे ये भिन्न स्थिति है या नहीं समझ में आया ये भिन्न है ये भिन्न है जैसे हमने उसको प्रलय की अवस्था पहुंचा दिया तो प्रलय की अवस्था में पहुंचाने के पश्चात याद रखना वो पांच थी पांच विषय हैं जैसे तो प्रलयवत प्रत्येक को प्रलयवत पहुंचाएंगे तो उसमें तो दूसरी तीसरी कोई आगे खड़ी नहीं होगी क्या समझ में आया हाँ जी कौन बोलेगा जब प्रलय अवस्था बना देंगे तो मानसिक रूप से सभी वस्तुओं का विचारों का विषयों का जब हमने प्रलय कर दी तो दूसरी आने की कोई संभावना नहीं रहती हाँ तो प्रत्येक को प्रलय की स्थिति में पहुंचा दिया आपने जब रोका एक के विषय में एक के विषय में आपने रोक दिया या तो वही या उससे दूसरी या उससे तीसरी आगे फिर खड़ी हो गई क्यों क्योंकि उनका प्रलय आपने नहीं किया है आंख बंद करके प्रलय अवस्था बनाना एक स्थिति है खोल के बनाने आई दूसरी स्थिति है खोल के प्रलवत अवस्था बनाए रखना यह पर्याप्त परिश्रम काल विवेक वैराग्य साध्य है अर्थात ये आंख बंद करके प्रलवत अवस्था बनाना इसकी अपेक्षा सरल है आंख खोल के प्रलवत अवस्था बना देना उसकी अपेक्षा कठिन है अब आपको मैं देखूं आंखों से और प्रलवत बना दूं आपके शरीरों को ये उसकी अपेक्षा कठिन है और आंख बंद करके आपके शरीरों को प्रलवत बनाऊं ये उसकी अपेक्षा सरल है आपको कुछ समझ में आया नहीं आया बोलिए क्या समझ में आया आंख को खोल करके प्रलयवत अवस्था बनाना कठिन है हम्म। अपेक्षा की आंख को बंद करके चुपचाप बैठ करके बिना व्यवहार के बिना लेन देन खान पान उठने बैठने के व्यवहार को रोक देने की स्थिति में प्रलय अवस्था बनाए रखना सरल है परंतु प्रलयवत अवस्था बनाए रखना खाना भी पीना भी लेना भी देना भी उठना भी भागना भी दौड़ना भी पढ़ना भी लिखना भी सारे काम करना ये उसे कठिन है कुछ समझ में तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा आ रहा है <laughs> या नहीं हाँ जी धर्मवीर जी क्या क्या समझ हाँ बिना लेन देन किए बिना व्यवहार के मतलब अवस्था बनाए रखना सरल है और सभी कार्यों को करते हुए लेते हुए देते हुए पढ़ते हुए पढ़ाते हुए अवस्थ अवस्था बनाए रखना कठिन है हो सकता है आपको ये मन में आए कि व्यवहार करते लेते खाते पीते देते ये परवशा बन ही नहीं सकती ऐसा भी मन बन सकता है आपका या नहीं बनता ऐसा लगता है <laughs> आप बोलो अपना अपना आप बोलो लगता है कैसा लगता है लगता कठिन कठिन या असंभव हाँ जी बोलो हाँ जी असंभव लगता है कठिन है या असंभव है आपका कैसा लगता है कठिन लगता है संभव नहीं लगता हाँ जी स्वामी पर अभी विचार नहीं किया बस आपने किया क्या जो विचार ही नहीं किया तो पढ़ना लिखना बेकार हुआ है तो सारा जो इसी पर विचार नहीं किया तो इतना विचार किया कि मतलब अवस्था बना सकता हूँ हम्म। जाती है हम्म, हम्म। पर उसको लेते देते ये बनी रहेगी अथवा नहीं करके नहीं देखा फिर आपने विकास क्या किया अपना विकास तो इतना होता है व्यक्ति का करते करते जब अंतिम स्थिति नहीं आती तब तक वो अपने दिमाग को विकसित करता चला जाता है जहां अंतिम स्थिति आएगी वहां रुकेगा जाके वो इससे आगे भी कोई होगी नहीं नहीं कोई नहीं अथवा उसके लिए आगे संभव नहीं है स्थितियों को जानना <laughs> आनंद जी क्या समझ में आ रहा है ये बोलो दैनिक व्यवहारों को करते हुए खाते पीते हम्म। घूमते पढ़ते पढ़ाते पूरे कार्य करते हुए प्रलयवत अवस्था बनाना हम्म। ये बहुत बहन मैं कहूं आनंद जी मुझे पानी पिलाओ और आनंद जी को प्रलवत बनाए रखू <laughs> क्या समझ में आया का समझ में ये दो स्थितियां हैं ये कार्य भी है और ये कारण भी है आनंद जो है आनंद का शरीर अब क्या समझ में आया नहीं आ रहा समझ हम्म क्या समझ में आया शरीर जो है वो कार्य भी है और कारण भी कैसे कोई उदाहरण जैसे क्या बनेगा आनंद जी बोलेंगे कैसे जैसे स्वामी जी हम घड़े को देखें हम्म, हम्म। तो हम उसकी मिट्टी को देखें हाँ हाँ हाँ हाँ वो काली दिख रहा है और घड़ा जो पानी घड़ा भी दिख रहा है इसको बर्फ को देखें और उसमें बर्फ में कारण रूप रहता ये कार्य रूप रहता है जिसे हम काम लेते हैं शरीर से वास्तव में देखा जाए तो वो कारण और कार्य स्वतंत्र दो पदार्थ नहीं हाँ जी क्या समझ में आ रहा है बोलो नहीं आया समझ हाँ जी विशाल जी वास्तव में कारण और कार्य कोई स्वतंत्र अलग पदार्थ नहीं कैसे जैसे आनंद जी ने उदाहरण दिया हाँ कि घड़ा कार्य है हाँ। और मिट्टी उसका कारण है हाँ, हाँ। अब उन दोनों को अलग करके हम कभी नहीं देख सकते यदि मिट्टी को अलग कर दिया तो घड़ा अपने स्वरूप में नहीं रहेगा हाँ तो वो दो वस्तु तत्व है या एक वैसे एक ही है कथन के लिए उसको दो अलग अलग कहते हैं व्यवहार क्यों आ गया समझ में है जी तो फिर वो जब स्थिति क्या है दर्शनकार कहता है नाश है कारण लय नाश कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि घड़ा नष्ट हो गया तो कोई चीज नष्ट हो गई कारण में लय होना नाश या और कुछ हम्म बोलो जी क्या समझ में आया कारण में लय कारण में लय हो जाना ही उस वस्तु का विनाश होना है तो ये व्यक्ति वृत्ति निरोध करने वाला पूरी सृष्टि के रूपों को और नामों को रूप ये रूप नहीं नाम ना, नाम को आनंद शरीर का नाम है साढ़े तीन हाथ का शरीर और आनंद नाम है नाम और नामी को प्रलम बनाए रखता है नाम को भी और नामी को प्रलवत बनाए रखता है हाँ बोलो ये स्वामी जी ईश्वर का प्रणिधान बनाना अर्थात अपने कार्यों को ईश्वर को अर्पण करना ये अलग है और प्रलय अलग है कि ये दोनों एक साथ चल जाते नहीं एक साथ चलने में बाधा नहीं है ईश्वर जैसे आपने विज्ञान के ढंग से जान लिया इन चीजों को जान लिया इनको तो ऐसे की वैसे रखना और पहले वाला रूप में आ जाए बना दिया पर अब आपने ईश्वर पर निधान करना है ये स्थिति आई उसमें बाधा खड़ी होगी रूप आदि की होगी या नहीं होगी नहीं आ रहा समझ ईश्वर पर ही दान करेंगे ना आप ओम सच्चिदानंद पाठ करेंगे अर्थ करेंगे हे ईश्वर आप सर्वरक्षक और अपने आत्मा को समर्पित करेंगे ये ईश्वर परिधान है चल रहा अपना स्व स्वामी समय हटा दिया अब वो रूप आएंगे पहले के देखे हुए नहीं आएंगे यदि आप रोकेंगे नहीं तो आएंगे नहीं आएंगे तो आएंगे तो दो स्थिति है उनको बला तो रोकना जो के तो रोक देना ये सीधा संबंध है इसके साथ और प्रलवत बना के रुक जाना उनका प्रलवत बना दो रुकी जाएंगे प्रयोग हुआ नहीं साथ साथ ये देखिए साथ संबद्ध रहेगा आप यदि प्रलवत अवस्था बनाए रखेंगे तो परिधान बनेगा नहीं तो बनेगा नहीं दैनिक व्यवहार में निवेदन दैनिक में ही तो हुआ है बैठे भी कर लो दैनिक में भी होगा यही दैनिक में भी यही होगा ईश्वर बदला नहीं दैनिक में कारण कार्य बदले नहीं दैनिक में हमारा मन बदला नहीं दैनिक में सारी जो की तो वस्तु ऐसे दैनिक बना लेते बैठ के कर लो ऐसे वस्तु तत्व तो वही है समझ में आ रहा आपको नहीं आ रहा कुछ तो आ रहा होगा ये आशा दिखता है क्या छेड़ दिया ये हुँ? हम्म? ऐसा तो नहीं सोचते कहां के खड़ा हो गया मैं कहां के फंस गया है कहीं उछलता कूदता लोगों में सम्मान मिलता ऐसा तो नहीं दिख रहा नहीं अब ये सारी बातें सारी विद्या जाननी पड़ती है नहीं तो योगी नहीं बन सकता व्यक्ति और ये व्यक्ति विधि पूर्वक जो साधन है उनको साधन उपार्जन करना उनकी रक्षा करना उनका प्रयोग करना बाधकों को उखाड़ना समाप्त करना न उठाना ऐसा जो करता वो व्यक्ति तो पहुंच जाएगा इस अवस्था में असंभव कुछ नहीं है ऐसा नहीं मानना यह असंभव है या मानते हो आप हम्म। हाँ जी आनंद जी बोलिए असंभव तो क्या मैं बहुत कठिन मानता हूं बहुत कठिन भी नहीं है क्यों है इसके अनेक कारण है ऐसा क्यों लगता है न माता ने सिखाया न पिता ने सिखाया न गुरु ने सिखाया न साथियों ने न संबंधियों ने सिखाया न पड़ोसियों ने सिखाया आज तक कोरे के कोरे रहे तो कठिनाई ऐसे तो जो विज्ञान जिसने पढ़ा ही नहीं बीस तीस वर्ष का हो गया विज्ञान तो उसके लिए कठिन ही दिखेगा नहीं समझे वहां से सीखने गया था माता जी ने सिखाया पिताजी ने सिखाया गुरु जी ने सिखाया संबंधी ने सिखाया आज कहे मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है सरलता दिख रहा है मुझे झटाझट हो जाता है नहीं या नहीं आज जो मैं आपके सामने बता रहा ये आप को तो कठिन दिख रहा मुझे तो कोई कठिन नहीं दिख रहा ये क्या बात है <laughs> आप बताइए है नहीं कोई कारण है या नहीं मैंने अभ्यास किया प्रयोग की खोज की सब कुछ लगाया ये सरल हो गया आपने लगाया नहीं है कठिन है अब तो आया समझ में क्योंकि आ गया सबका में ऐसे ही रहते हो आप पशु खा लेता है खा के शोर चल पड़ता भूख लगती है फिर खा लेता है फिर बैठ जाता है फिर उठ जाता है <laughs> क्या जीवन है ऐसे ही अपने जीवन में ऐसी खोज नहीं करना फिर दूसरे को नहीं सिखाना ये कोई जीवन है क्या आप इसी को जीवन मान बैठे हो तीन काल में सत्य क्या है वो जानना है उसके जाने बिना रुका नहीं जा सकता चाहे <laughs> कुछ भी जीवन तो वो है क्यों विश्वेश जी बूढ़े की तरह क्यों बैठे कमर मोड़े हुए तीर कमान की तरह ऐसे बैठे सीधे अभी से ऐसे अभी से थकने लग गए अभी से आप कठिनाई का अनुभव करते हो अब मेरा को भी उसी प्रकार से सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयास कीजिए इन बातों को गौण मान के साधारण मान के अथवा इनको सुनते सुनाते पढ़ते पढ़ाते हैं ये साधारण स्थिति की बातें कही जा रही है ऐसा मान करके आलस्य प्रमाद में अपना जीवन विफल और राष्ट्र का भी विफल बनाने का प्रयास न कर बैठे बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अशुभ कर्म तो हम प्रायः नहीं करना चाहते असावधानी अल्पज्ञता से हो जाते एक स्थिति शुभ कर्म करने में जो सावधानी होती है व्यापक रूप से बुद्धिजीवी वर्ग में भी होती है वह है कि ईश्वर प्राप्ति करने कराने को गौण बना दे और शुभ कार्य समाज के कार्य व्यक्तिगत अपने कार्य उनको प्रमुख मुख्य बना दे आप परीक्षण कर सकते हैं पठित वर्ग में और वैदिक मान्यताओं के क्षेत्र में जिनकी वैदिक मान्यताएं हैं उनका वो प्रचार भी करते हैं या लेखन करते हैं संस्थाएं चलाते हैं उपदेश करते हैं पढ़ते पढ़ाते हैं ऐसी स्थिति में ईश्वर प्राप्ति करना कराना गौण रहता है हाँ जी आनंद जी क्या समझ में आया पक्षित बुद्धिमान और वैदिक धर्मी जो हैं उनके अंदर भी एक असावधानी एक त्रुटि व्यापक रूप से देखने में आती है और वह त्रुटि यह है कि संस्था चलाना प्रवचन देना अध्ययन अध्यापन करना कराना और परोपकार के कार्य करना इनको करते हुए मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को व्यक्ति कौन बना देता है आपने कहीं अध्ययन किया हो देखा हो तो अनुभव होगा या नहीं आपका अनुभव है क्या नहीं नहीं है हाँ जी अपने जीवन का कितना अनुभव है इस विषय में आप उसी स्तर पर हैं या आपका स्तर बदल चुका है जैसे वो लोग गौण मानते हैं वैसे ही आप भी ऐसे ही गौण मानते हैं मैं पढ़ू विद्वान बनू ये पढ़ू वो पढ़ू और पढ़ू विद्वान बन जाऊं इसको आप मुख्य मानेंगे और ईश्वर प्राप्ति करने कराने को गौण करेंगे तो आप भी इसी कोटि में आएंगे हाँ जी ब्रह्मचारी बताएंगे आप कौन से स्तर पर रहते हो अभी ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मुख्य नहीं बनाऊंगा हाँ जी आगे चलिए ऐसा ही ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मुख्य नहीं बनाऊंगा हाँ जी ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य अभी गौण है हाँ जी आप बोलो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मुख्य बना हुआ बन गया है आपका ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य गौण बना हुआ गौण है हाँ जी ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य गौण है हाँ जी आप बोलिए वर्तमान में तो गौण से समझा हाँ जी अभी तो दोनों ही मुख्य है दोनों मतलब समान है हाँ जी प्राप्ति का लक्षण गौण है हाँ जी उदय जी उदय उदय जी है ना क्या हाँ जी हाँ जी तब मान के चले आपके कथनानुसार दो व्यक्ति तो हम कहेंगे भाई सफल हो गए इसमें सारे विफल हो गए आप और जब ये अनुभव होता है कि वास्तविकता ये है हम उसको छोड़ चुके हैं तब आप उल्टी विचारधाराओं से संघर्ष टक्कर क्यों नहीं लेते आपने ये तो सुना होगा योग दर्शनकार की भाषा या बजाज भाषा में भी तर्कवाद यानी प्रतिपक्षवाम एक बुराई की ओर जब हम जाते हैं जब वितर्क प्रतिभावना होती है ये भी वितर्क प्रतिभावना का वितर्कवाद यानी प्रतिपक्ष भावना का एक अंग है जब ईश्वर को गौण बना के चलते हैं और इसको मुख्य तो वितर्क हो गया या नहीं हुआ समझ में आया है के साथ इन विचारधाराओं के साथ इन मान्यताओं के साथ जब हम विशेष संघर्ष नहीं करते लंबे काल तक जूझते नहीं रहते इनको हटाया नहीं जा सकता हो सकता है आप कम परिश्रम करेंगे और उग्र हो जाएंगे तीव्र होंगी यद्यपि समाज के लिए देश के लिए विश्व के लिए ये पढ़ना पढ़ाना उपदेश लाभप्रद है हानिकारक नहीं है ये कार्य बहुत अच्छे हैं कभी इनको भी छोड़ दो आप <laughs> न तो ईश्वर प्राप्ति करो ना ये करो ऐसा मत कर देना ये तो समझ में आया नहीं है जी आप यदि इस प्रकार का प्रयास संघर्ष नहीं करते रहेंगे तो ईश्वर प्राप्ति गौण बना रहेगा हो सकता है यदि कम प्रयास करें तो ईश्वर प्राप्ति और गौण हो जाए यद्यपि ये तो सम, नहीं समझना चाहिए कि हम उन विद्वानों का कुछ दोष दिखा रहे हैं कई बार ऐसा समझ लिया जाता है ये हमारे आचार्य जगदेव जी यहां रहते थे यहां पहले उनका अध्ययन हुआ जैसे पहले वर्ग में थे वो हमने सोचा आप ये आप यही रहिए और योगाभ्यास में आपका तक कुछ बन चुका है अच्छी स्थिति बन गई है बहुत अच्छा रहेगा कुछ पढ़ाते रहे और पढ़ते रहे तो उन्होंने कहा मैं गुरुकुल में जाके सारे कार्य संचालित करूंगा और योगाभ्यास पूरे स्तर पर करता रहूंगा मेरी गति में कोई अंतर नहीं आ सकता मैं ऐसा मानता हूं और मैं वास्तव में मुख्य लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा कालांतर में कालांतर वो स्थिति बिगड़ गई जो यहां की और स्थिति उतर उतरते उतरते उतरते योग मार्ग में कहीं और चली गई फिर वो मतदानों में जो आजकल का बेकार का विवाद है ना मतदान जो आदि समाज के चलते हैं प्रतिनिधि के उसमें जा पड़े उसमें पता नहीं एक बार तो या कितनी बार हार गए एक बार हार गए दूसरी बार हार गए अब लॉक इस तरह बन गया अब पता नहीं वो फिर उठेंगे या नहीं उठेंगे और वो उस तरह उनका बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये बात नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की है इसी प्रकार से आचार्य वेद मान सके अच्छे विद्वान हैं प्रतिभाशाली हैं सब कुछ है और लंबे काल तक मेरे साथ रहे ये सिंहपुरा गुरुकुल में तीन वर्ष दो पौने दो वर्ष अजमेर में आदि आदि योग के विषय में पूछते रहते थे बताता में रहता था आदि आदि चलता ही रहता था सिद्धांतों के विषय में व्यवहार के विषय में तो उनकी स्थिति में देखता था कि अभी अंग उपांग पड़ गई अच्छी योग्यता हो गई किसी संस्था में दो घंटे जैसे पढ़ा दिया शेष काल अपना योगाभ्यास करें विवेक वैराग्य की प्राप्त करें और ये जब अच्छी स्थिति आ जाए योग में प्रगति समाधि की प्राप्ति हो जाए तब संस्था को चलाने का प्रयास करें तो उन्होंने कहा कि मैं संस्था चलाते रहते हुए चलाता हुआ मैं योगाभ्यास करता रहूंगा विद्वान भी बनाऊंगा और मेरी योग में गति होगी मैं सफल हो जाऊंगा अब वो दो चार आठ वर्ष में स्वयं भी ये कहते मैं कहां फंस गया जहां नहीं फंसना था और वो सारी स्थिति बिगड़ गई जो बनी थी ये कितनी व्यक्ति की उल्टी बुद्धि है <laughs> उल्टा विचार उल्टी विचारधारा है ये जिसको प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला था उसको तो गौण बना दिया या बिल्कुल छोड़ दिया और दूसरी चीजों में ये धन में मान में खाने पीने में ये पदों में इनमें जूझता रहता है अब इसी का नाम दर्शनकारों की भाषा में अविद्या अनित्य असुचि दुखनाथम समझ में आ गया क्यों जी है जी ये अपने क्या नाम है दिनेश कुमार दिनेश कुमार जी के सर को देख के मुझे रोचक बात याद आ गई मुझे वे पूछने लगे आप बतलाओ तो एकदम सामान्य था मुझे समझ में नहीं आया ये दिनेश जी हैं या और कोई वो आता है ब्रह्म मुनि दिया दृष्टान्त देवदत्त को पहले तो बाल से ही देखा और फिर बाल कटे देखा ये पता नहीं <laughs> ये बाल से ही वही देवदत्त या कोई और है मतलब ऐसे हुआ अब इन्होंने इतने दिन लगा दिए उस और लगाते लगाते लगाते और अब ये पूरा प्रयास करेंगे तो वो संस्कार रोकेंगे कमजोर हो जाएंगे हटाया जा सकता और जितना परिश्रम चाहिए जितना त्याग तप विवेक वैराग्य चाहिए जितना आत्मनिरीक्षण चाहिए जितना उस व्यक्ति को महापुरुषों का संग चाहिए वो इतना नहीं करता जब नहीं करता तो उसको जो उसने मुख्य माना था उसको वो रोक नहीं पाता दबा दबा पूरा जीवन खो देता उसको एक प्रश्न उभर के आता है कई बार कि समाज का राष्ट्र का उपकार अध्ययन अध्यापन लेखन संस्था संचालन तो नहीं हो पाएगा फिर ऐसा भी उसके मन में होता है या नहीं होता है? यदि व्यक्ति अपना जीवन उचित रूप से बनाता उसका निर्माण करता और यथाशक्ति समाज का कार्य करता रहता है और वही व्यक्ति अपना जब स्तर उसका बनता है जितना वो संसार का उपकार कर सकता है सारा मिला के मान लो लंबा जीवन हो गया उसके लेखन उसके चरित्र और उनका निर्माण आदि सब मिलाओ तो हजारों की बात कह दो चाहे लौकिकों की लाखों की कह दो उस ढंग से उतनी स्थिति में इतने लोग जितना उपकार संसार का नहीं कर सकते तक उपकार की बात ये जो लोग कहते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए हमको तो बार बार जन्म मिले और हम तो समाज का उपकार करेंगे समाज का भलाई हमारे लिए हो उसमें क्या रहस्य है कभी आपने विचार किया हो नहीं किया उनके जीवन को देखने से उनके व्यवहार को देखने से औरों के भी व्यवहार को देखने से एक तो ये बात निकलती है वो जन समुदाय में या व्यक्तिगत रूप में कहते हैं एक तो ये बात आती है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतना परोपकारी है इतना निष्काम कर्मी है मुक्ति को भी इसने ठोकर मार रखी है समाज के लिए एक तो ये दिखाना चाहते हैं क्या समझ आया नहीं समझ में आया आगे आगे ये ऐसा उनके अंदर घर कर गई है एक और भाग है उन इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने से उनकी पूर्ति में दौड़ धूप करने से उस व्यक्ति को इतना समय नहीं मिलता योगाभ्यास करे या वो दर्शनों इनका विशेष विद्वान बने या इस प्रकार से सत्संग करे योग के परीक्षण करे और उसके अनुरूप उसका जीवन भी हो स्थिति ये अनुरूप जीवन यदि नहीं हो और वो ये कहने लगे मुक्ति में जाना चाहिए मोक्ष का वो करना चाहिए है जी तो उसको डर लगता है यहां पर वो अपनी प्रवृत्ति की पुष्टि में ये काम करता है कि लोग आप कहेंगे कि योगाभ्यास की तो आप बात करते हैं योग का तो प्रचार करते हैं आप इसके लिए दो घंटे भी नहीं लगाते ये आक्षेप उसके ऊपर नहीं आ पाएगा वो यही बात कहेगा जो मैंने कही अपनी प्रवृत्ति जो लोकेशन के लिए उसकी पुष्टि के लिए कहता है उसकी पुष्टि करता है अब तीसरा भाग ले लो जो योग में अच्छी गति रखते हैं अच्छा प्रयास करते हैं उनको सम्मान मिलता है उनको लोग बहुत अच्छा कहते हैं उसका खंडन करने के लिए यह बातों कहता है उसको कैसे गिराया जाए नीचे जिसे मुझे धन मिले मुझे सम्मान मिले उसकी गिराने का ढंग यही है ऐसा कहो ऐसा ही बातचीत में कहो ऐसा ही प्रवचन में कहो तत्काल प्रभाव पड़े कि व्यक्ति बेकार की बात करता है ये की बात करने वाला ये खंडन हो जाए और वो ये चाहते हैं कि आज जैसे मैं धन सम्मान और भोगों के लिए भागता रहता हूं दौड़ धूप कर रहा ये मुझे इसी प्रकार से मिलता रहे मरू जब तक क्या समझे आप ठीक है जब तक ऐसा ही मिलता रहे और उसकी पूर्ति इस जन्म में जब नहीं होती तो वो क्या चाहेगा अगला जन्म भी ऐसा ही हो जिसमें यही काम करता रहूंगा अगले में करने की योजना बनाएगा फिर इसमें तो हो ही नहीं ये मैंने आपको इसलिए बतलाया कि कभी आपको भ्रम न हो जाए भ्रांति न हो जाए परोपकार के विषय में या इन प्रवचनों को सुन करके या इन बातों को लेकर के आपके मन में भ्रम पैदा हो जाए भ्रांति हो जाए और आप भी यही सोचने लगे अब थोड़ा आध्यात्मिक विषय में ध्यान के मन के विषय में चर्चा की जाती है दोनों समय योगाभ्यास करते हैं उपासना करते हैं तो आपने परीक्षण किया हो कि आपका मन एक विषय में कितने काल तक रुकता है वश में रहता है आप बोलेंगे साफ बोला करें फिर बोलो पांच सात मिनट तक एक विषय में एकाग्रता हाँ। ऐसे दस से एक मिनट तक लघु हो जाता है हाँ जी कभी कभी दस पंद्रह मिनट तक होता है हाँ जी आप बोलो एक घंटे तक उपासना करता हूँ उसमें बीच बीच में सूक्ष्म वृत्ति आती रहती है बाकी काल में लगभग एकांत रहता है हाँ जी दस से पंद्रह मिनट तक हाँ जी आपका लगभग दस मिनट पांच सात हम्म? पांच सात पांच सात हाँ जी दस मिनट के लगभग हाँ जी हाँ जी जब अच्छी स्थिति होती है तब आधे से पौने घंटे तक वैसे आपने कभी परीक्षण किया है या नहीं स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं हम पौन एक घंटा ऐसे उपासना करते रहे विशेष रूप से कोई विक्षेप नहीं आया तीव्रता से कोई स्मृति वृत्ति जैसी घटना नहीं घटी साधारणतया बीच बीच में विषय आते रहे हटाते रहे जाते रहे साधारण स्थिति बनी रही अच्छी स्थिति बनी रही उसको भी व्यक्ति ऐसा मान सकता है कि इतने काल तक मेरा मन पूरा बस में रहा अब क्या समझ में समझ में तो आई बात या नहीं आई क्या आई जो बीज में सूक्ष्म वृत्तियां उठती है हम्म। उसको हम हटाते रहे हम्म। और एक विषय में ही मन बुलवा कर रखें हम्म। तो इसको भी एकाग्रता की स्थिति मान सकते हैं उसको ऐसा मान सकते हैं कि इतने काल तक मेरा मन आधा घंटा तक अर्थात किसी विषय में नहीं गया ऐसा मान सकता है आप परीक्षण करेंगे पता चलेगा परीक्षण करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कुछ एक झलक मात्र के रूप में क्षणिक विषांतर होता है और तत्काल आपने उसको जैसे रोक दिया फिर कुछ विषांतर हुआ जैसे फिर आपने रोक दिया ऐसे बीच बीच में होता रहता है आप फिर रोक के ठीक कर लेते हैं उसको तो एक स्थिति है एक स्थिति यह है कि मध्य में विषांतर होना ही नहीं सतत पांच मिनट सतत दस मिनट या ऐसे परीक्षण तो समझ में आ गए आपको या नहीं आया परीक्षण दो स्थिति भिन्न भिन्न मैं आपसे ये कहूं कि थोड़े काल आप किसी विषय में भी अपने मन को न लगाए बैठे रहें तो आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे तो बैठिए करके देखिए क्या करेंगे ये ध्यान देना है आपने करना है कि अब मैं किसी भी विषय में विचार नहीं करूंगा ये करना है बैठ के चुपचाप बैठ आने भूलेंगे क्या स्थिति रही मैंने वृत्तियां उठाई स्वामी जी और थोड़ी देर एक आदमी कुछ नहीं विचारना ये स्थिति बनी या नहीं बनी बहुत कम देर से कितना लगभग जैसे कुछ पल जिन्हें सेकेंड कहते अच्छा आपकी समस्या उठाई बीच में हम्म। कितने काल तक बनी ऐसी लगभग आधे मिनट तक बनी हाँ बीच में बहुत सूक्ष्म व्यक्तियां कुछ ऐसी बन नहीं पाई जिससे न उठे ऐसी ऐसी नहीं बन पाई जिसमें कोई वृत्ति न उठे उठने के लिए बनी फिर बाद में जो सूक्ष्म वृत्तियां बीच बीच में वो आ रही फिर क्या किया कोई भी नहीं उठे ऐसी नहीं बनी प्रारंभ काल में कुछ सेकंडों के लिए बनी स्थिति फिर अंत स्थिति में हाँ जी आप बोलेंगे मेरे विचार से कुछ क्षण के लिए बनी फिर क्या हुआ सूक्ष्म विद्या उठाई और कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरे को कुछ सूक्ष्म विद्या उठाने से पहले रोका ऐसा भी अनुभूति पहले सूक्ष्म विचार जो है उनको उठाया हाँ जी आपने जो परीक्षण बताया उसके अनुसार मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने एक भी विद्या नहीं उठाई अच्छा ये पूरे उसमें ऐसी स्थिति रही भाई जैसे कार को रोक के खड़ा कर देते हैं हुँ? हम्म? और हम जानते कार खड़ी कर रखी है ऐसी रही ना या ऐसा भी होता है कि वृत्तियां तो उठी सूक्ष्म सूक्ष्म वो आपके पकड़ में नहीं आई ये आप अनुभव कर सकते क्या नहीं वृत्तियां तो उठी वो इतनी सूक्ष्म है वो पकड़ में नहीं आती कभी देखा आपने ऐसे प्रयोग करके वृत्तियां तो उठी है परंतु वो पकड़ में नहीं आती जब पकड़ में नहीं आने से वो कहता है मैंने एक भी वृत्ति नहीं उठाई हां जी वृत्तियां उठाता रहा उठाई वो पांच सात सेकंड के लिए रुका होगा वो कोई विशेष रुकना अब आप ऐसा नहीं करते कि गाड़ी को मैं चला रहा हूं आप चलाते ना प्लस की गाड़ी को और अब जब इच्छा हो मैं गाड़ी को खड़ा कर दो तो गाड़ी खड़ी नहीं होती क्या अभी ये मन क्यों नहीं होता खड़ा अंतर क्या है दोनों अभ्यास की न्यूनता व्यतीत होती इतने लंबे काल इतना जीवन व्यतीत हो गया अब तक अभ्यास ही नहीं हुआ रोकने का अभ्यास विशेष नहीं है चलाने का अभ्यास ये गाड़ी ये गाड़ी झटा झटे थोड़े काल में बस में कर दी आपने जहां <laughs> रोकना चाहे रोकते हैं और ये आज तक नहीं हुआ जो पड़ोसी है आपका बिल्कुल साथी मित्र है और वो दूर से लैली गाड़ी लैल होकर करके वो खड़ी करने अभ्यास कर दिया ये क्या बात है हाँ जी कई सारे विचार उठाए और ईश्वर से प्रार्थना भी करता रहा कि इसमें सहयोग दीजिए <laughs> अच्छा चाहता हूँ हाँ। परंतु कई सारे अच्छा ईश्वर ये नहीं समझता मूर्ख व्यक्ति चलाता स्वयं मांग मुझसे मांगता है ऐसा नहीं सोचा हमने ईश्वर ऐसा बुद्धिमान तो है या नहीं है है जी आप कार में बैठ जाए गाड़ी को चलाते परमात्मा जी गाड़ी को रोकने का बल दीजिए परमात्मा जी गाड़ी को रोकने का तो वो देगा क्या है जी फिर हाँ जी आप बोलेंगे हाँ जी विशेष जी मन को रोकने का प्रयास किया और बीच बीच में विचार करता मैं किसी विचार को नहीं उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा इस प्रकार अच्छा ये भी एक स्थिति है भाई वो ये विषय बन गया उसका आज इस समय मैं किसी विचार को नहीं उठाऊंगा देखो अब मैं किसी किसी विचार को नहीं उठाऊंगा किसी को नहीं उठाऊंगा मैं अब कोई विचार नहीं उठाने वाला हूं मैं ये एक विषय बनता है हाँ जी बोलो जी कोई व्यक्ति मतलब ऐसे गाड़ी की तरह रोक के खड़ा कर दिया हम्म तो क्या करते रहे आप उस समय उस समय अपने ऊपर ध्यान रहा कि मैं इच्छा नहीं मैं कोई इच्छा नहीं करूं अच्छा देखो इसमें एक स्थिति क्या रहती है आपने मन की वृत्ति को रोक दिया अब किसी विषय में नहीं उठाना अब वो विचारने का जो स्वभाव बना हुआ है ना हमारा अपना लगातार विचारते हैं परसों से वो जब रोकते हैं ना एक तो रोकते हैं और एक वो उठता है उठता तो क्या है उठाते हैं कहना ये चाहिए उठता तो क्या उठाते हैं हम उसको उठना मानते हैं नहीं समझा उठाते हम हैं और हम उसको ऐसे जैसे रजाई में से व्यक्ति ऊपर उछल रहा हो <laughs> रजाई ओढ़ करके कोई ऐसे करे कोई अंदर से ऐसे पानी में डूबकी लगाया और गुब्बारा जैसे बाहर निकलता है ऐसे वो विचार को भरते हैं और वो उसको रोकता है उन विचारों को है जी और फिर वो बढ़ते तो फिर रोकता है वो है जी बड़ा करते वो बढ़ते और वो रोकता जाता है उसने रोका एक एक विचार ऐसा आया उछल करके मेंड की तरह यो दिखने लगा वो फिर उसको पकड़ा ऐसे फिर पल लगाया उसने खूब रोका फिर ऐसे करते करते दूसरा मेंढक की तरफ फिर उछल पड़ा एक विचार फिर वो श्रृंखला टूट गई अब फिर उसने ढीला छोड़ दिया ढीला छोड़ के फिर आराम सा हो गया चलो बेकार झंझट में क्यों पड़े ऐसा ही रहने देता पहले था क्यों अरे एक व्यक्ति कहता नहीं ऐसा क्यों रहने दे ये जड़ पदार्थ है कार की तरह ऐसा रहने देंगे तो मार डालेगा पता नहीं काम करो दोनों वो कितने उठेंगे ऐसा जीवन तो बेकार है जीवन नहीं फिर वो लग गया फिर प्रयास करता है वो अब कालांतर में वो जब प्रयत्न करने लगा तो वो इतना बल देता था ना जो बहुत अधिक बल उतना बल नहीं देता उतना तनाव पैदा नहीं होता जैसे पहले होता था कम हो गया नहीं आई बात समझ में ये प्रयोग आपको जो के तो मिले ये दो दो चार आप प्रयोग करके देख लेना वो अब अब वो उफान वो उत्तेजना इतना उद्वेग नहीं होता जैसे पहले उसमें कारण क्या है वो बार बार प्रयोग करने से उसको दिमाग में बात आने लगी वास्तव में इन विचारों को उठाने वाला मैं ही हूं और मैं ही उठाता और मैं इसको रोकता हूं अब क्या ये बड़ी विचित्र बात है कहीं अहमदाबाद चलो में टांग रखी आगे फिर नहीं अहमदाबाद नहीं जाना अरे उन विकास में रहना है तो फिर नहीं नहीं अहमदाबाद जाना फिर अहमदाबाद की ओर टांग रखी नहीं नहीं अहमदाबाद नहीं जाना है फिर अहमदाबाद की ओर टांग रखी तो नहीं अहमदाबाद नहीं जाना है कहते तो टांग नहीं मानती अहमदाबाद की ओर जाने के लिए कर रही है कहते नहीं टांग क्या करती है मैं ही तो टांग उठाता हूं <laughs> अहमदाबाद की ओर जाने की और ये पूरा व्यायाम हो गया उनका करते करते एक टांग उठाता है उल्टी रखता है फिर कहता जी ध्यान में थकान आती है <laughs> नहीं समझ में आ गया बताओ तो कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा फिर कहते ध्यान में थकान आ जाती और थकान व्यक्तित्व अपने लिए अपने साथ कुश्ती कर रहा बराबर एक टांग उस और एक पीछे और एक उस और इतना बल तो लगेगा थक जाएगी बुद्धि थकान आएगी या नहीं आएगी अच्छा जब पता चला तो उसने वो टांग रखनी कम कम कर दी कभी कभी करता है वो फिर और कम कर दी तो अब वो उफान और वो जो उत्तेजना होती थी ना बेचारों वो कमजोर पड़ गई फिर वो धैर्य से अपनी स्थिति बनाए रखेंगे मैं जैसे अब बेचारों को रोक रहा हूं वेदना जैसी नहीं आती उफान जैसा नहीं आता बहुत कम प्रयत्न करना पड़ता फिर एक और होता है जैसे किसी चीज को पकड़ते हैं ना हम पकड़ लेते ना बाहर से बच्चे को पकड़ लिया वो खेल कूद रहा था जैसे ऐसे पकड़ देते बच्चा कितना पूछने कूदे ना छोड़ देंगे हमारे हमारे भी विचार है ना वैसे पकड़ देते हैं उसको विचार को विचार को उसको इधर उधर उठने नहीं, नहीं देते समझ में आया नहीं आया हुँ? हम्म? और इसमें प्राण को नियंत्रण में रखना भी सहयोगी होता है प्राण जो है ना हमारा सांस चलता है उसको भी हम नियंत्रण में ले आते हैं सांस को वहीं रोक दिया उसमें भी सहायता हमको मिलती है पकड़े रहते हैं ऐसे पकड़ा ना जैसे ये हमारा कंठ है ना जैसे ऐसे रोक तो के खिला कर दिया विचार को ऊपर नहीं देता हूं नहीं बनने देता पर ज्ञान विज्ञान कार्य करता रहता मैं चेतन एक देशी अल्पज्य जीवात्मा जो है मैं चलाता हूं ये ज्ञान का पक्का होता जाता है ये ज्ञान जैसा पक्का होता है उतना ही तनाव उतना ही उद्वेग आंतरिक कम होता चला जाता है ये तो समझ मारे ना जीव का तो। हम्म? और जिन्हें बतलाऊ अब वो ये ऐसी स्थिति में आया कि अब कुछ नहीं विचारना भाई ईश्वर को तू नहीं बेचारेगा तो ईश्वर नाराज हो जाएगा कुछ भी नहीं बेचारे मतलब तो ईश्वर सर्वव्यापक वो नाराज होगा फिर <laughs> तो वो समस्या खड़ी होगी उसके सामने नहीं समझे अच्छा फिर जब तक वो ऐसी खोज नहीं कर लेता भाई मैं बेचारू हूं ना विचार हूं ईश्वर नाराज होता ही कभी नहीं मेरा विचार नहीं गलत तो ईश्वर नाराज हो जाएगा नहीं समझे आप मेरे कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या करेगा वो वो बात उन्हें हटा दी ये ईश्वर नाराज हो जाएगा रुष्ट हो जाएगा होता ही ईश्वर फिर कहता है कि मैं विचार करने में तो स्वतंत्र हूं ईश्वर ने भी तो मुझे स्वतंत्र छोड़ा है या नहीं ईश्वर ने स्वतंत्र छोड़ रखा तो नाराज होना उसके विपरीत थोड़ा है अब वो ईश्वर को मानू न मानू ईश्वर के विषय में विचार करूं न करूं <laughs> ऐसी भी समस्याएं खड़ी होती हैं उनका समाधान करना पड़ता है अब विराम